Y Eddie Nagar. Black and white असर उते चढ़ गई तू चढ़ गई तू चढ़ गई हिप्नोटाइज आंखों से कर गई तू कर गई कर गई ब्लैक एंड व्हाइट होते चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई हिप्नोटाइज आंखों से कर गई कर गई कर गई कर गई शूर एट साइड और दिल पे कर गई में आज black and white dress code है everything is like so exploding astounding करे तू सेड्यूसिंग फीमेल और सम्मा जैसे करे बॉम्बे तू मेरी hip hop girl I'm losing control oh girl your eyes like pearl You got an idea feeling appreciate पैरों में तेरे स्टेडी टोज रंग में इतना सोना सॉलिटेयर ब्लैक एंड व्हाइट वो तेरी ड्रेस कोड जैसे मेरी आंखों में लगा है lens flare the way you move your body on the floor कोई दूजी देव ना कर पाए होड़ तूने किया एक्टिवेट मेरा बीस मोड आजा आजा गर्ल तेनू करूंगा फ्री साड़ी में आज black and white dress code है रात है काली माहौल बड़ा हॉट है देख भाई एडी इसकी ड्रेस कितनी शॉर्ट है जिससे भी पट गई भैया उसका पॉट है ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल choose me are you single या किसी और का हो माल पार्टी की तुम रानी हो बॉम्बिंग करने वाली हो कितनी पी चुकी हो और कितनी पीने वाली हो मानता हूँ तो कभी देती नहीं हो जवाब मेरी बात का देखो ना कैसे कैसे खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का सोचता हूँ मैं तुझे बाहों में लेकर बेबी डाल ही दू बालों में तेरे फूल गुलाब का डीजे मिक्सिंग मुझे दे दो माइक मैं तेनो हूँ कैसे करा डेज क्वाइट मेरी please don't kill my vibes मुझे बताना what you what is your type गाड़ी मेरी wife black leather seat feel कर हीट हाँ फील कर बीट तेनो करा गला ऑन द रिपीट फील कर हीट हाँ फील कर बीट वो ब्लैक एंड व्हाइट सारे होते चढ़ गई तू गई चढ़ गई तू गई चढ़ गई हिप्नोटाइज आंखों से कर गई तू कर गई तू कर गई शोर एक्साइट दिल पे कर गई कर गई कर गई वेल स्ट्राइक माइंड को कर गई तुड़ कर गई तुड़ कर गई शोर एक्साइट दिल पे कर गई तुड़ कर गई तुड़ गई कर गई वेल स्ट्राइक और माइंड को कर गई तुड़